एक अद्वितीय ब्रह्म प्रत्येक अभिन्न है फिर भी अज्ञान के कारण भेद बुद्धि होती है अनादिकाल से और उसके लिए तर्क तार्किक लोग तर्क उपस्थित कर उपस्थापित करते हैं कि अलग-अलग आत्मा है कोई सुखी कोई दुखी किसका जन्म किसका मरण ये जो अलग-अलग होता है एक आत्मा हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो इसमें सिद्धांति कहते उपाधि का भेद मानोगे तो कोई आपत्ति नहीं हम भी मानते उपाधि का भेद है किंतु स्वाभाविक भेद सिद्ध करने के लिए जो आप हेतु देते हो हेतु सब व्यभिचारी है ठीक हेतु नहीं है तर्क के ऊपर निश्चय करने के लिए हेतु ऐसे होना चाहिए जो व्यभिचारी नहीं हो साध्य के अभाव अधिकरण में यदि हेतु रह जाए उस हेतु से साध्य निश्चय नहीं होगा वन्नी को हेतु करके धूम साध्य करेंगे वन्नी धूम एक साथ रहते हैं किंतु कहीं-कहीं अयुगल लोहा गरम कर दिया लाल हो गया उसमें वन्नी रहेगी धूम तो धूम के अभाव वाले में वन्नी रह जाने से वन्नी को देख करके धूम निश्चय नहीं कर सकते हैं यत्र यत्र वन्नी ततः धूम ये व्याप्ति नहीं है हाँ यत्र तत्र धूम ततः वन्नी ये तो ठीक है यत्र तो धूम का अर्थ नहीं कि ऊपर धूम चला गया तो ऊपर ही वह्नि है धूम एक विलक्षण धूम को लेते हैं नीचे से ऊपर धूम निकल रहा है मूल रेखा विच्छिन्न नहीं है निकल रहा है तो अधिकरण में वन्नी है नहीं कि धूम जितने ऊपर फैल गया सब स्थान में बननी ये सब ये अर्थ नहीं है धूम के अधिकरण में बननी है और धूम वैसे होना चाहिए नीचे से ऊपर निरंतर निकल रहा है विलक्षण धूम को देखकर बने नीचे होता है कभी नीचे से निकलना बंद हो गया ऊपर थोड़ा कहीं इधर-उधर चला गया रेलगाड़ी के धूम कोई धूप के अगरबत्ती के धूम कोई सिगरेट पीकर धूम छोड़ दिया ऊपर वो धूम से बने निश्चय नहीं होता है जो धूम नीचे से ऊपर निकल रहा है निरंतर उसे अधिकण वन्य किंतु वन्य को देख करके धूम निश्चय नहीं कर सकते कहीं कहीं लकड़ी जलाते तो वन्य भी है धूम भी है यत्र यत्र वन्य तत्र तत्र धूम है ठीक नहीं क्योंकि वन्य है व्यभिचारी धूम के अभाव अधिकरण में अयोगोलक में लोह पिंड में गर्म करके लाल हो गया तो वन्य तो रहती है कोयला लकड़ी भी जल जाने के बाद अग्नि तो है अंगारा अंगारा किंतु अंगारा और तो समय भी दुम नहीं है इसी प्रकार ये जो हेतु दिया है ये सब व्यभिचारी दिखाने के लिए स्वयं ये भाष्य भाव है नहीं अनेक तार्किक कुबुद्धि गो विचालितांत करणाना प्रमाण उपपन्नम आत्मिकत्व विज्ञानम असकृद उच्यमानम नाम ब्राह्मणानां चेतसि नाद्यते इति तत्प्रतिपादन आदरवती पुनः पुनराह श्रुति अनेक तार्किक कुबुद्धि विचालित अंतकरणा नाम अनेक ही तार्किक अनेकेशाम तार्किका नाम कुबुद्धि तार्किक जो बुद्धि कुबुद्धि है कुत्सित बुद्धि श्रुति अर्थ को अनादर करके अपने मन से कुछ ना कुछ तर्क करते हैं ये तार्किक की कुबुद्धि कुबुद्धि के द्वारा विचालित विचालित अंतकरणम ये शाम विचालिता ने अंतकरणानि यथा विचालितम अंतकरण वेशाम जिनका अंतकरण से तार्किक कुबुद्धि से विचालित तर्क करने वाला तर्क से करके कुछ कुछ बता देते हैं लगता है तो ठीक बोलते हैं देखो एक आत्मा है तो किन एक भोजन कर तो सबका पेट भर जाना चाहिए बस एक एक ही आत्मा है तो एक सुखी तो सब सुखी हो जाए ऐसे अंतकरण विचलित हो जाने से प्रमाण उपपन्न व्याप्य आत्मिकत्व विज्ञानम प्रमाण से प्राप्त है श्रुति महा श्रुति वाक्य प्रमाण है सबसे प्रबल प्रमाण है श्रुति प्रमाण तत्वमसि आदि वाक्य है प्रमाण से उपपन्न प्रमाण से प्रतिपाद्य है आत्मिकत्व विज्ञानम प्रमाण से प्राप्त है प्रमाण उपपन्नम प्रमाण से उत्पन्न होता आत्मिकत्व विज्ञान होने पर भी असकृत उच्यमानम श्रुति में तो नौ बार तत्वमसि तत्वमसि वेदांत श्रवण करने वाले तो कितने श्रवण करते रहते हैं असकृत उच्चमानम बार-बार कहा जाने पर भी ऋजु बुद्धिनाम ब्राह्मणानाम नाधी नादीयते कहीं-कहीं पाठ है अनृज बुद्धिनाम इति पाठांतर है अनृज बुद्धिनाम तो सरल बुद्धि होने पर ज्ञान होगा और अनृज बुद्धि सरल नहीं तो टेढ़ी है बुद्धि है तो उनको ज्ञान नहीं होगा ऐसा पाठ है अनुज बुद्धि नाम का ही पाठ है और ऋज बुद्धि नाम जैसे पाठ यथा पाठ है तो दृष्टांत है सरल बुद्धि को जैसे ज्ञान हो बुद्धि वाले को ज्ञान हो जाता है इसी प्रकार ज्ञान नहीं होता है जिनका अंतकरण कुबुद्धि तार्किक कुबुद्धि से विचलित हो गई तो दृष्टांत व्यतिरिक दृष्टांत होगा ऋजु बुद्धि नाम ब्राह्मणा नाम सरल बुद्धि वाले ब्राह्मणों को जैसे ज्ञान होता है ऐसे ज्ञान नहीं होता है कुबा कुबुद्धि विचालित अंतकरणा नाम ऋजु बुद्धि नाम ब्राह्मणानाम चेतसी नादीयते यहाँ अनृज बुद्धि नाम इसे पाठांतर है तो अनृज बुद्धि नाम तो जिनके बुद्धि सरल नहीं है उनको ज्ञान नहीं होता है और ऐसे कहीं ऐसे करते ऋजु बुद्धि नाम सरल बुद्धि विचार नहीं कर पाते हैं तार्किक लोग को देख करके उनके अनुसार मत बुद्धि बन जाती ज्ञान नहीं होता है यहाँ वास्तव है कुबुद्धि विचारित अंतकण होने के कारण ज्ञान नहीं होता है अंतकण अत्यंत शुद्ध नहीं तो ज्ञान नहीं होता है अंतकण शुद्ध होने पर श्रुति वाक्य प्रमाण है उसमें इतने अत्यधिक श्रद्धा हो जाएगी तो तर्क करने वाले को सुनेंगे नहीं तर्क करते रहो तार्किक लोग कुछ बोलते हैं बोलते रहो श्रुति प्रबल प्रमाण है उसके ऊपर तर्क तुम्हारी बुद्धि कहाँ काम करेगी तो जो सरल बुद्धि नहीं है अनिज बुद्धि तो ज्ञान नहीं होता है यदि तत्प्रतिपादन आदरवती पुनः पुनः राह आदरवती तात्पर्यवती आदर तात्पर्य है एक अद्वितीय ब्रह्म है उसको प्रतिपादन करने में श्रुति का तात्पर्य है बार-बार श्रुति कहती अग्निरथेको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च अग्नि तथा एक एक ही अग्नि है भुवनम प्रविष्ट सारे ब्रह्मांड में प्रविष्ट है काष्ठ में पत्थर में भी अग्नि है और जलाने पर तो अनभिव्यक्त है अभिव्यक्त होने पर काष्ठ जलाया कोयला जलाया बड़े-बड़े पेड़ जल जाते हैं तो ऐसे लंबा अग्नि भी लंबे-लंबे पेड़ के जैसे बड़े-बड़े अरण्य में बड़े-बड़े पेड़ गिरे हुए सूखे हुए आग लगे तो जल गया तो पूरा इतने बड़े अग्नि देखे कहीं छोटा तीन कोना आकार चार कोना आकार ईंधन के अनुसार ईंधन जैसा है ऐसे अग्नि दिखती है लौह पिंड गोल है तो अग्नि गोल दिखेगी लौह के लंबा है तो लंबा दिखता है कोई प्लेट लंबा चौड़ा है तो ऐसे भी दिखता है रूपम रूपम प्रतिरूप भव उपाधि रूप ईंधन के अनुसार अनेक रूप हो जाती है हो गई तथा एक सर्वभूतांतरात्मा श्रुति स्पष्ट कर दे सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा एक सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा ये कहेंगे कोई देवतावादी लोग परमात्मा को कहते सर्वेषु भूतेषु अंतरात्मा नहीं सर्वेषां भूतानां जो आत्मा है अंतरात्मा एक ही है अनेक नहीं है भूत शरीर अनेक है आत्मा एक है जिस प्रकार अनेक घड़े में आकाश है घड़े अनेक है आकाश एक है इस प्रकार अनेक भूत देह में आत्मा अंतरात्मा एक है किंतु रूपम रूपम प्रतिरूप वैश्च रूपम रूपम प्रतिरूप रूप के भेद से अलग-अलग दिखता है कोई मनुष्य पशु पक्षी मनुष्य बने प्रकार है रूपम रूपम औपाधिक शरीर के भेद से भिन्न भिन्न दिखता है प्रतिरूप ऐसे दिखता है आत्मा जीव चैत्र मैत्र मनुष्य पशु पेड़ और बहिश्च जैसे आकाश एक ही आकाश जितने घड़ा रखो सब घड़ा के अंदर आकाश है बाहर तो नहीं ना बाहर है हाँ अंदर बाहर एक ही आकाश है इसी प्रकार आत्म चैतन्य सब भूत के अंदर है और बाहर नहीं है हाँ, प्रतिरूप बहिश्च नहीं तो लगता है कि सब के अंदर तो आत्मा ठीक है जहाँ कोई है ही नहीं जीव कोई आदमी नहीं दीवार नहीं कुछ नहीं वहाँ आत्मा कैसे रहेगा कभी कोई संशय करते आत्मा कैसे रहेगा खाली स्थान में मनुष्य में आत्मा है उत्तर सब में एक आत्मा मान लो और खाली स्थान में कैसे आत्मा रहेगा इसलिए पहले आकाश को समझे आकाशवत सर्वगतस्य नित्य आकाश इस प्रकार सर्वव्यापक है आकाश को रखने के लिए कोई लगाना पड़ता है दीवार बनाना पड़ता है छाद डालना पड़ता है आगे नहीं तो आकाश गिर जाएगा ऐसा नहीं सर्वव्यापक आकाश है किस में आश्रित नहीं है इसी प्रकार आत्मा भी किस में आश्रित नहीं है ये तार्किक लोग सिखाते हैं नित्य द्रव्य किस में आश्रित नहीं होता है आकाश आश्रित नहीं है आकाश को आकाश तो सर्वव्यापक है इसका अर्थ नहीं सब में आश्रित घट के अंदर आकाश है छेद करें तो आकाश रहेगा ना गिर जाएगा नीचे पानी भर के छेद करें तो आकाश रहेगा पानी के साथ आकाश निकल जाएगा पानी निकल जाए भरे रहे कोई मतलब नहीं आकाश सर्वव्यापक है ना उसका छेदन भेदन इधर-उधर से लेना कुछ नहीं कर सकते इसी प्रकार आत्मा तत्व तो और सूक्ष्म है सब के अंदर बाहर एक ही है अनेक नहीं है रूपम रूपम प्रतिरूप बभुव प्रतिरूप के लिए टीका में दिया प्रतिरूप उपाधि सदृश चतुष्कोणत्वादि धर्म के ही दारुणी उपाधि के सदृश लकड़ी में अग्नि जल जान से दारुणी काष्ठे काष्ठ में काष्ठ चतुष्कोणत्वादि धर्म के कोई चार कोना है कोयला ऐसे प्रकार दिखता है कोई गोलाकार है कोई त्रिकोणाकार भी हो चतुष्कोणत्वादि धर्म के दारुणी तद्रूप वन्यरपि लक्ष्यते वन्य वैसे दिखती है जैसे उपाधि है लकड़ी आदि ईंधन ऐसे दिखती है जन वन्य भी भाष्य में अग्नि रथैक एव आत्मा सन अग्नि एक ही प्रकाश रूप अग्नि भुवनम प्रविष्ट भुवन क्या भवन्ति अस्मिन् भूतानि ते भुवनम भवन्ति अस्मिन् भूतानि जिसमें भूत उत्पन्न होते रहते जन्म होते भुवन अयम लोक इस लोक में तम इमं प्रविष्ट अनुप्रविष्ट इस लोक में अग्नि प्रविष्ट है एक अग्नि किंतु रूपम रूपम प्रतिरूप बहुव रूपम रूपम प्रति दारुवादि दाहे भेदम प्रति दारु काष्ठ आदि काष्ठ भी है कहीं गैस भी जलाते हैं तैल भी जलाते हैं कई वस्त्र आदि में कहीं अलग-अलग लोहा गर्म हो गया तो लाल हो गया दारु आदि दाह्य जिसका दहन होता है दाह्य दाह्य भेदम प्रति दाह्य भेद दाह्य भिन्न भिन्न है अलग-अलग आकार है वन्नी जिस प्रकार दाह्य तद्रूप हो जाती है दाह्य के बिना केवल वन्नी कहां दिखती बताओ ईंधन के बिना केवल वन्नी नहीं जहां कहीं ज्वाला है तो उसके वायु के साथ ग्यास के साथ तो दाह्य भेद से वन ही दिखते अलग-अलग प्रकार और कहीं सूक्ष्म रूप से प्रकट नहीं होती है आघात कण से पिटने से दीवार में से वन पर पत्थर में चिंगारी जैसे दिखती किंतु नहीं तो दिखते नहीं और जहाँ दिखते हैं दाह्य भेद से अलग-अलग प्रकार दिखती है एक रूप वन्य होकर के दाह्य के अनुसार प्रतिरूप प्रतिरूप तत्र तत्र प्रतिरूपवान दाह्य वेदना बहुविध बहु तत्र तत्र दाह्य जैसे अलग अलग है प्रतिरूपवान उसके रूप वाला होकर के दाह्य वेदन बहुविध बहुत प्रकार हो गई अन्य कोई गोलाकार है कोई चतुष्कोणाकार कोई त्रिकोणाकार है कोई पेड़ गिर पेड़ जल गया तो लंबा बड़ा दिखता मोटा होकर के एक एव तथा सर्वभूता अंतरात्मा सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा एक ही है भगवान कहते क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु गीता में सारे शरीर में एक ही क्षेत्र के हैं परमात्मा वही पर आत्मा है अलग आत्मा नहीं जो शरीर को जाने वाले क्षेत्र के वही परमात्मा है भूतांतर आत्मा सर्वेषां भूतानां अभ्यंतर आत्मा सारे भूत के अंदर है अभ्यंतर आत्मा अति सूक्ष्मत्वा दार्वादिषु सर्वदेहं प्रति प्रविष्टत्वात् एकैव तथा सर्वभूतांतरात्मा सर्वेशा सर्वेशा भूतानम अभ्यंतर आत्मा अति सूक्ष्मत्वात् आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है जैसे आकाश सूक्ष्म है आकाश सूक्ष्म का अर्थ उसका परिमाण परमाणु सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म सब के अंदर बाहर है प्रविष्ट है ये सूक्ष्म है आकाश में केवल शब्द गुण है वायु में शब्द स्पर्श दो गुण हो गया आकाश की अपेक्षा वायु थोड़े स्थूल है वायु का थोड़ा अनुभव होता है स्पर्श होता है और वो वायु के अपेक्षा तेज में और एक गुण आ गया रूप और थोड़ा स्थूल हो गया शब्द स्पर्श रूप के बाद रस आ गया जल में पृथ्वी में गंध है जितने जितने गुण अधिक होता है इतने इतने स्थूलता आकाश में केवल शब्द है और आत्मा में शब्द भी नहीं है और सूक्ष्म है आकाश की अपेक्षा सूक्ष्म का अर्थ उसका दर्शन नहीं होता है उसको कोई काट नहीं सकता है जला नहीं सकता है छेदन वेदन नहीं होगा इसी प्रकार सूक्ष्म का अर्थ है गम्य नहीं है आकाश के समान किसके साथ संबंध नहीं होता है आकाश के जैसे संबंध नहीं होता है इसी प्रकार आत्मा अति सूक्ष्म होने से सब के अंदर प्रविष्ट है सूक्ष्म होने के कारण दारुआदु शिव सर्वदेहम प्रविष्ट जैसे वन्य दारुआदि में प्रविष्ट है इसी प्रकार सर्व सर्वदेहम प्रति प्रविष्टत्वाद सब देह में प्रविष्ट है बड़े-बड़े शरीर में हाथी आदि मनुष्य में तो है छोटे जीव कीड़े में रहेगा आत्मा सूक्ष्म होने के कारण छोटे से छोटे के अंदर भी सर्वदेहम प्रति प्रविष्टत्वाद छोटे बड़े सब के अंदर है जिस प्रकार आकाश आकाश सुई के छिद्र पीछे तरफ छिद्र उसके अंदर आकाश है छिद्र को भर देंगे तो तो भी आकाश है छिद्र हो तो आकाश नहीं है तो भी आकाश है सब के अंदर बाहर आकाश है और सब पदार्थ से सूक्ष्म होने से आकाश पहले आकाश के बाद कुछ रहेगा घड़ा में आकाश है उसमें पानी भरो कुछ भी भरो आकाश रहेगा उसके बाद पानी रहेगा सब के देह में प्रविष्ट इस प्रकार आत्मा प्रतिरूप बभु और देह के अनुसार औपाधिक भेद से अलग-अलग दिखता है बहिश्च और बाहर भी स्वयं अविकृतेन रूपेण आकाशवत अविकृत रूप से बाहर भी है देह में तो उसका प्रतिबिंब चिदाभास होता है बाहर उसका आभास नहीं किंतु अविकृत आत्म चैतन्य जिस प्रकार आकाश सर्वव्यापक है सब के अंदर और बाहर ऐसा आत्म तत्व सब के अंदर बाहर एक ही है बाहर है अविकृत रूप और देह में विकृत जैसे लगता है विकार नहीं होता है वो प्रतिबिंब अंतकण में दिखता है तो देह में चैतन्य दिखता देह को चेतन कहते हैं पत्थर को दीवार को जड़ कहते हैं चेतन क्योंकि चिदाभास दिखता है वही विकृत जैसे लगता है उसमें क्रिया होती है उपाधि की क्रिया उसमें दिखती है क्रिया उसमें है नहीं चेतन में अंतकर्ण में प्रतिबिंब दिखता है और अंतकर्ण में कंपन हुआ काम क्रोध इच्छा आदि हो तो चेत चिदाभास में कंपन दिखता है सुख दुख आदि है जिस प्रकार दर्पण टेढ़ा मेढ़ा हो दर्पण को हिलाए तो प्रतिबिंब हिलेगा दर्पण को हिलाएंगे तो बिंब मुख स्थिर रहेगा या हिलेगा जितने जोर दर्पण हिला तो मुख क्यों हिला मुख तो स्थिर है आकाश में चंद्र स्थिर है जल में सब जल हिलाने पर क्या प्रतिबिंब हिलेगा हैं हाँ, प्रतिबिंब हिलेगा आकाश में चंद्र हिलेगा ना नहीं थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं जितने जल इसी प्रकार ये सब अविकृत रूप से सर्वत्र व्यापक समान है देह में ऐसे दिखता है विकृत हो गया विकृत होता ही नहीं ये अंतकण में कंपन हुआ तो उसमें दिखता है चिदाभास में सुखी दुखी कहा जाते हैं और अविकृत रूप से आकाश सर्वव्यापक है इस प्रकार आत्मा सब के अंदर बाहर एक ही है और के अंतकण में प्रतिबिंब होता है चिदाभास का भेद है बिंब रूप चेतन का भेद नहीं है एक बिंब में अनेक उपाधि के कारण अनेक प्रतिबिंब एक बिंब का हो सकता है एक मुख का दर्पण बहुत रखो चारों तरफ दर्पण रखो प्रतिबिंब दिखता है इसी प्रकार एक आत्मा का अनेक चिदाभास है भेद दिखता है चिदाभास में जो भेद सिद्ध करते हैं वो भेद सिद्ध होगा औपाधि का भेद देह के भेद से औपाधिक का आत्मा में भेद है वास्तव आत्मा का भेद सिद्ध नहीं होगा क्योंकि वास्तव आत्मा में सुख दुख होता तो उसके अधिकरण में भेद अधिकरण के भेद से भेद सिद्ध करते हैं सुख दुख का अधिकरण आत्मा है ही नहीं सुख दुख अधिकरण दिखता है जिसमें अंतकरण में चिदाभास विशिष्ट अंतकरण में दिखने से आत्मा में आरोप करते हैं तथा अन्य दृष्टांत और भी दूसरा दृष्टांत भी है वायुर्यथेको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एक तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूप वैश्च यथा एक वायु भुवनं प्रविष्ट जिस अग्नि वायु एक ही वायु ये भुवन में लोक में प्रविष्ट है सर्व सर्वव्यापक है रूपम रूपम प्रतिरूप बभूव रूप अलग अलग रूप में प्रविष्ट होकर अलग अलग दिखता है सब के शरीर में प्राणवायु चल रहा है सब प्रविष्ट होकर प्राणवायु होकर के अलग-अलग देह में दिखता है कहीं प्राण अंतकण चला गया तो कहीं मर गया ये रूप रूप प्रतिरूप हो गया वायु एक तथा सर्वभूता अंतराता आत्मा सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा एक है प्रत्येक देह के भेद से प्रविष्ट होकर के रूपम रूपम प्रतिरूप अलग-अलग रूप दिखता है बहिश्च बाहर भी है वायु देह के अंदर वायु को कहते प्राण देह के बाहर वायु है उसको प्राण कहते हैं वो बाहर बाहर वायु है अंदर वायु है इसी प्रकार आत्मा देह के अंदर भी है बाहर भी है देह के अंदर उपाधि का भेद से भिन्न दिखता है उपाधि दिखने से उपाधि का आत्मा चिदाभास भेद दिखता है बाहर आत्मा दिखता नहीं है किंतु है भाष्य में वायु रथैक इत्यादि रूप देह में प्रविष्ट होकर किस रूप से प्राणात्मना देश अनुप्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूप बभुवैति प्राण रूप से देह में प्रविष्ट देहांतर संचार वायु प्राण देह के अंदर प्राण कहा जाता है रूप प्रतिरूप अलग-अलग भेद से अलग-अलग दिखता है प्रतिरूप बभुवैति सवा इत्यादि समानम बभुव समान मित्यव लिखित पुस्तक से पाठ सवा कहाँ से आ गया सवा इत्यादि कोष्ठ में चाहिए स बभुव इति समानम ये हम्म क्या दिया क्या तो कोष्ठ में क्या दिया वो नहीं वेत्यादि सन अच्छा वो सब को यहाँ रखा सब को कोष्ठ में नहीं रखा ये हाँ रूपम रूपम प्रतिरूप बभुवेति समानम रूपम रूपम प्रतिरूप बभुव इति समानम तो ये स को कोष्ठ में रखना चाहिए था पहला स को स वा इत्यादि सम इत्यादि कोष्ठ में रख करके बभुव इति समानम रूपम रूपम प्रतिरूप बभुव इति समानम पहला स हो तो उसके साथ मान के साथ मिलाना पड़ेगा समानम एक पदे सालग पद मानव के पद नहीं समानम व्यास कर रखा है स क्या आगे हां ठीक है समान हो गया वाइति आदि नहीं समानम बभुवैति समानम पाठे बभुव इत्यादि समानम रूपम रूपम प्रतिरूप बभुव इत्यादि समानम बहुवे इत्यादि जो दिया है ना पहले जो सह नहीं रहेगा तो बहुवे इत्यादि समानम ऐसा है ठीक है टिप्पणी है इति समानम इतव लिखित पुस्तकों से पाठ बहुव इत्यादि ऐसा बहुव इति समानम बहुव इत्यादि समानम ठीक है इस एक प्रकार है रूपम रूपम प्रतिरूप बहुव आगे एक तथा सर्वभूतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूप ये समान है आगे टीका में परमात्मा दुखी स्यात् दुख अभिन्नत्वात् लोकवत परमात्मा दुखी हो जाएगा दुख अभिन्नत्वात् दुखा नहीं दुख अभिन्नत्वात् दुखी से अभिन्न होगा तो दुखी हो जाएगा जीव है दुखी परमात्मा यदि उससे अभिन्न है तो परमात्मा ही दुखी हो जाएगा एक से सर्वात्मकत्व संसार दुखितम परसेव स्यादिति प्राप्तम अत इदम उच्यते एक से सर्वात्मते एक ही यदि आत्मा सर्वात्मक है सबका आत्मा एक है संसार दुखितम परसेव स्याद परसेव स्याद स्यादे तद नहीं परसेव स्याद संसार दुखितम जात परमात्मा ही संसार दुखित तो हो जाए इति प्राप्तम अतोचते तो परमात्मा ही संसार दुख सारे संसार दुख परमात्मा में उसके लिए कहते हैं सूर्यो यथा सर्व लोकस्य चक्षुर नलिप्यते लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोषैः सर्व भूतांतरात्मा न लिप्यते दुखेन बाह्यः यथा सूर्य एक हाँ। सूर्य यथा सर्वलोक से चक्षु सारे लोक के चक्षु है चक्षु के प्रविष्ट और चक्षु का उपकार करता है सूर्य नलिप्यत चाक्षु से बाह्य दोष ही चाक्षु से बाह्य दोष चक्षु से ग्रहण होता है अन्य वस्तु पदार्थों का और जो देखते हैं शुद्ध अशुद्ध सब चक्षु से दिखते दिखते पदार्थ का ज्ञान होता है किंतु सूर्य का संबंध बाह्य दोष से नहीं होता है लिप्त नहीं होता है प्रकाश से सब प्रकाशित है सूर्योदय होने पर प्रकाश होने पर प्रकाश का संबंध सर्वतः हो जाता है जहाँ-जहाँ होता है सब पवित्र के साथ संबंध होगा या अपवित्र के साथ पवित्र अपवित्र सब दिखता है नहीं चाहते दिखता है अपरिष्कार अशुचि आदि किंतु प्रकाश के संबंध होने पर भी और प्रकाश के साथ उसका लेप नहीं होता है सूर्य का लेप का तो प्रश्न ही नहीं सूर्य के थोड़ा प्रकाश आकर प्रकाशित तो धूप उधर दिखेगा यहाँ यहाँ लाइट बिजली नहीं जलाएंगे तो भी प्रकाश आ जाता है प्रकाश फैल जाने पर भी बाह्य दोष से लिप्त नहीं होता है और सूर्य के साथ लेप होने का प्रश्न ही नहीं एक तथा सर्वभूतांतरात्मा इसी प्रकार सारे भूतों में भूतों का अंतरात्मा एक है किंतु लोक लोक दुखेन न लिप्यते लोक दुख से लिप्त नहीं होता है क्योंकि बाह्य ये उससे विलक्षण है जहाँ दुख दिखता है शरीर उपाधि है उससे विलक्षण है आत्मा अधिष्ठान अध्यस्त से भिन्न है विलक्षण है सारे अधिष्ठान चेतन सर्वव्यापक सुख दुख जहाँ दिखता है अध्यस्त पदार्थ में उसे बाह्य है उसे विलक्षण अत्यंत विलक्षण है अधिष्ठान चैतन्य शुद्ध है सूर्य यथा चक्षुस आलोकन उपकारम कुर्वन मूत्र पुरुषादि असुचि प्रकाशनेन तदर्शन सर्वलोक चक्षुर विसन न लिप्यते चक्षुसे असुचि आदि दर्शन निमित्ते आध्यात्मिके हि पाप दोषैर बाहिश्च आदि संसर्ग दोषे न लिप्यते के साथ संबंध सूर्य यथा चक्षुस आलोकन उपकारम कुर्वन सूर्य यथा सर्वलोक से चक्षु सूर्य चक्षु होकर प्रविष्ट है इसे भी कहा गया और सूर्य चक्षु का आलोक से उपकार करता हुआ प्रकाश से उपकार यही चक्षु से दर्शन होता है आलोक का सहकारी का ना सूर्य आलोक से उपकार करते हुए चक्षु में का चक्षु का उपकार करते हुए मूत्र पुरुषादि अशुचि प्रकाशन है न तो प्रकाश जब होता है मूत्र पुरुषादि अपवित्र का भी प्रकाशन हो जाता है तदर्शिन सर्वलोक से सब लोग उसको देखते हैं मूत्र आदि अपवित्र भी देखते हैं सर्वलोक से चक्षुर पिसन और चक्षुर सूर्य चक्षु होकर के प्रविष्ट है तो चक्षुर पिसन न लिपते लोक चक्षु से देखता है तो असुचि पदार्थ का संबंध चक्षु से नहीं होता है सूर्य चक्षुर होते हुए भी बाह्य पदार्थ से लिप्त नहीं होता है चाक्षुषैर असुचादि दर्शन निमित्तैर आध्यात्मिक ही पाप दोषैर किससे लिप्त नहीं होता है चाक्षुषैर असुचादि दर्शन निमित्तै असुचादि के दर्शन के कारण जो आध्यात्मिक ही पाप दोष है देह में होने वाले जो दोष है असुच अपवित्र देखने पर कुछ विकार होता है कभी निषिद्ध दर्शन से पाप होता है बाहिश्च अशुचि आदि संसर्ग दृष्टि अशुचि आदि के साथ संबंध होने से बाह्य अशुचि आदि के साथ संबंध हुआ वह अशुचि आदि पदार्थ चक्षु में आ जाते हैं क्या आंख बंद कर दें तो आंख के अंदर कुछ कुछ रह जाता है कुछ नहीं रहता है अशुचि आदि पदार्थ संसर्ग नहीं उसके दर्शन निमित्त तो कोई इसलिए भी सूर्य का चक्षु का कोई संबंध नहीं होता है एक संस तथा सर्वभूता अंतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य एक संस तथा सन के नकार को हो गया नश्चव्य प्रसान रू विसर्ग स एक सन तथा सर्वभूता अंतरात्मा सर्वभूतों के अंतरात्मा कितने एक होता हुआ भी न लिप्यते लोक दुखेन लोके के दुख से लिप्त नहीं होता है बाह्य बाह्य है वो उसे विलक्षण है दुख तो अंतकण उपाधि में है ही कल्पित हुआ आत्मा में है ही नहीं जो जीव का सुख दुख वो जीवात्मा में भी नहीं है वो तो अर्थ अंतकण में बुद्धि में चिदाभास दिखता है उसमें कंपन होता है आत्मा में आरोप करते हैं वो कहते दुखी सुखी वही इसको लेकर परमात्मा दुखी हो जाए तो ये तो वो उपाधि धर्म है टीका में अविद्याम प्रतिबिंबित चिद्धातुर रज्ञो भ्रांत भवति अभी अज्ञानी कौन होता है ब्रह्म है या ब्रह्म से भिन्न है भ्रांत ब्रह्म है या ब्रह्म से भिन्न है ब्रह्म से भिन्न नहीं तो ब्रह्म ही भ्रांत होता है <laughs> वास्तव भ्रांति जिसमें वो भ्रांत होगा भ्रांति वास्तव हो तो भ्रांत कोई वास्तव होगा भ्रांति वास्तव नहीं तो वास्तव भ्रांत भी नहीं है बंध्या स्वप्न में देखा उसका पांच पुत्र है और पांच पुत्र से कितने पुत्र बंध्या का बताओ और किसका पुत्र है बंध्या का नहीं था और किसका पुत्र है सपने जो पांच पुत्र देखा कोई बंध्या स्त्री वो पुत्र बंध्या का है अन्य स्त्री का है हम्म? वो बंध्या का तो नहीं है बंध्या का भी नहीं है मिथ्या पुत्र है इसी प्रकार वास्तव हो तो किसी का कहेंगे अविद्या वास्तव भ्रांति वास्तव हो तो भ्रांति का आश्रय को भ्रांत कहेंगे भ्रांति है अविद्या का अब अविद्यावस्था में भ्रांत व्यवहार करेंगे तो ब्रह्म को ही कहना पड़ेगा ब्रह्म नहीं तो जीव को भ्रांति जीव में जीव हो जाएगा अविद्यायाम प्रतिबिंबित चिद धातु रज्ञ भ्रांत होती अविद्या में प्रतिबिंबित होता है चिद धातु चेतन पदार्थ चेतन सर्वव्यापक है अविद्या में उसका प्रतिबिंब होता है अविद्याम प्रतिबिंबित चित धातु वही चेतन अज्ञ हो गया भ्रांत होते केवल शुद्ध चेतन नहीं अविद्या में प्रतिबिंबित जो चेतन वो अज्ञ होता है ज्ञान विशिष्ट अज्ञान भ्रांत वही ही भ्रांत है इसलिए अज्ञान का आश्रय शुद्ध ब्रह्म है या जीव है इसके ऊपर विचार करने वाले कोई कहते ब्रह्म से भिन्न जीव हो तो जीव आश्रय होगा ब्रह्म से भिन्न कैसे होगा जी अज्ञान के संबंध से उसको जीव कहते हैं तो पहले जीव हो तो अज्ञान उसमें आश्रित होगा इसलिए अविद्यायाम प्रतिबिंब चित धातु अज्ञ हो गया चेतन ही अज्ञ है अज्ञान का आश्रय चेतन ही है और वही चेतन भ्रांत जो भ्रांत होता है उसको जीव शब्द से कह देते हैं आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चित रेव केवला आगे पूर्व सिद्ध तमस ही पूर्व सिद्ध तमस ही पश्चिमन आश्रय भवते नापि तदगोचर पूर्व सिद्ध तमस अज्ञान पहले से पूर्व सिद्ध अज्ञान का तमस ही पश्चिम पश्चात भावी जीव न आश्रय नापि गोचर ना तो आश्रय ना तो विषय ज्ञान का एक होता आश्रय का होता विषय अहम पश्यामि घटम जानामि घट ज्ञानवान अहम ज्ञान का आश्रय होता ज्ञाता अज्ञान का विषय होता है ज्ञेय घट ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय जानता जो है ज्ञान का आश्रय होता है ज्ञाता ज्ञान का विषय होता है घट घट हो गया ज्ञेय इसी प्रकार जैसे ज्ञान का आश्रय और विषय दो होते हैं और ज्ञान का भी एक आश्रय और एक विषय होता है घटम न जानामि अज्ञान का आश्रय है अज्ञाता ज्ञाता से भिन्न अज्ञाता विषय होगा घट आदि है अज्ञान भी अविद्या एक अज्ञान है अज्ञान होने से किसका ज्ञान है अज्ञान का विषय क्या है अज्ञान का आश्रय क्या है अनिर्वाच्य अनादि अज्ञान है अज्ञान अज्ञान तो किसका अज्ञान अज्ञान का विषय क्या है ज्ञान कहते से घट का ज्ञान पट का ज्ञान रूप का रस का अज्ञान कहें तो किसका ज्ञान है विषय क्या बताओ अच्छा अज्ञान अनादि काल से तो है किस में अज्ञान आशय क्या बताओ कहते आश्रय भी चेतन है विषय भी चेतन है क्योंकि ब्रह्म से बिना कोई है ही नहीं ना आश्रय बनने के लिए कोई है ना तो विषय बनने के लिए कोई है अज्ञान से ही तो विषय बनेगा आश्रय कोई कहेंगे अज्ञान के पहले कोई विषय है ही नहीं अज्ञान अनाधिकार से ही इसलिए आश्रय तो विषय तो भागी नहीं निर्विभाग चित्तरेव केवला निर्विभाग निरवय निर्गुण शुद्ध चैतन्य ही अज्ञान का आश्रय अज्ञान का विषय भी है ये मुख्य मत है विवरण मत है संख्य शारीरिकाकार भी कहते हैं और वाचस्पति मिश्र कहते हैं अज्ञान का जो आश्रय हुआ तो अज्ञान का आश्रय हो गया तो उसको जीव शब्द से कहना अज्ञानी तो जीव शब्द से वो कह देते जीव होता है अज्ञान का आश्रय विषय तो ब्रह्म है दोनों मत में विवरण मत वाचस्पति मत दोनों मत में अज्ञान का विषय ब्रह्म है ब्रह्म विषय का अज्ञान किंतु आश्रय के विषय में मतभेद है विवरण कार मत है प्रकाशात्मय का यही अज्ञान आश्रय विषय दोनों चेतन है ये क्योंकि ये अज्ञान पहले है पीछे जीव नाम पड़ेगा पूर्व सिद्ध तमस ही पश्चिम पश्चात भावी जीव ना आश्रय न अभिनव गोचर ना आश्रय होगा ना तो विषय होगा इसलिए आश्रय विषय दोनों चेतन है वाचस्पति कहते थोड़ा अज्ञान का आश्रय जब हो गया वो अज्ञान अनादिकाल से जीव भी अनादिकाल से है तो पूर्व पश्चिम क्या है वही जीव है अज्ञान का आश्रय इसे कह देते हैं इसलिए यहाँ कह दिया अविद्या में प्रतिम्बित चिद्धा धातु अज्ञ भ्रांत होती अविद्या में प्रतिम्बित चेतन है वही अज्ञ है शुद्ध चेतन नहीं हुआ अज्ञान विशिष्ट अज्ञान का आश्रय प्रतिबिंबित हुआ प्रतिबिंबित कौन से हुआ वाचस्पति कहे जीव को अज्ञ होता है वही भ्रांत होता है अशुद्ध चेतन कहेंगे तो अज्ञानी के कारण उसको अज्ञान कहा जाता है भ्रांत कहा जाता है किसको शुद्ध चेतन को अज्ञान से कहा जाता है वास्तव अज्ञान भ्रांत को ही नहीं <clears throat> प्रक्रिया थोड़े समझने के लिए स्पष्ट करने के लिए मतभेद विषय वास्तव वही चेतन एक है दोनों मत में कोई विशेष भेद नहीं ओ ये चेतन शब्द से कहेंगे और जीव शब्द से कहेंगे क्योंकि जीव का वाच्यार्थ अलग है लक्ष्यार्थ अलग है व्यवहार काल में वाच्यार्थ को भ्रांत कहते हैं लक्ष्यार्थ भ्रांत नहीं है भ्रांतस्य कामादि दोष प्रयुक्त कर्म कुरुते भ्रांति के आश्रय को भ्रांत कहेंगे भ्रांत है अज्ञान के कारण भ्रम हुआ रज्जु के अज्ञान से सर्प ब्रह्म दिखता है आत्म ब्रह्म के अज्ञान से भ्रांत अनेक पदार्थ दिखता है अनेक पदार्थ में किस में काम इच्छा है राग द्वेष आदि काम आदि दोष से प्रयुक्त काम क्रोध लोभ से प्रेरित होकर के कर्म करता है कर्म कुरुते कर्म कुरुते कर्म भोगाय कर्म करता है भोग करने के लिए फिर भोग करने के बाद वासना होते और भोग करने की इच्छा होती फिर कर्म करता है कर्म कर तुम च भुंजते कर्म करता है तन्निमितम च दुखम सात्मन अध्यसति कर्म के कारण दुख प्राप्त करता है दुख तो अंतकण का धर्म अंतकण में है अंतकरण में चेतन का प्रतिबिंब दिखने से वो प्रतिबिंब में दिखता है जल में चंद्र का प्रतिबिंब जल हिलता है तो प्रतिबिंब हिलता है बच्चा कहता है चंद्र हिल रहा है चंद्र तो ऊपर है वो क्यों हिलेगा इसी प्रकार अज्ञानी दुख दिखता है अंतकण में और चिदाभास में दिखता है आरोप करता स्वात्मनि अध्यस्यति मैं दुखी आरोप करता आत्मा में आरोप करता है परमात्मा तो निरविद्यत्वा दुख साधन शून्यत्वान न दुखी ततो न प्रयोजक हेतु परमात्मा तो निरविद्यत्वाद निर्गत अविद्यात अविद्या का संबंध परमात्मा में नहीं है परमात्मा में अविद्या जो मानते हैं अविद्या अध्यस्त आरोपित है परमात्मा अविद्या का आश्रय अविद्या का आश्रय मतलब अविद्या वास्तव है परमात्मा से भिन्न एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं अविद्या निरविद्यता जैसे मरुह में जल दिखता है तो मरुह में सजल हो जाते है ना जल दिखने पर भी में एक बिंदु जल नहीं है अविद्या भ्रांत को अविद्या भाल होने पर भी आत्मा के उसका आत्मा के साथ उसका कोई संबंध नहीं है आरोपित केवल अविद्या रहित होने से परमात्मा दुख साधन शून्यता दुख साधन कर्म पुण्य पाप कर्म है नहीं सुख दुख न दुखी आत्मा दुखी नहीं है जीवात्मा भी दुखी नहीं है जीवत लक्ष्यार्थ नहीं है अंतकरण में है आरोप करता है आत्मा में ततो न प्रयोजक है तो इसलिए जो दुख सुख को लेकर के आत्मा वेद सिद्ध करना चाहते हैं दुख सुख का संबंध है ही नहीं आत्मा में नहीं है संबंध जिसमें दुख सुख होगा उसका वेद सिद्ध करो अंतकण का भेद अंतकण भेद मानते हैं और अंतकण चिदाभास का भेद दिखता है उसका भेद मानो मानते हैं प्रतिबिंब अलग दिखता है एक बिंब है मुख दर्पण 50 दर्पण है 100 प्रतिबिंब दिखेगा इधर-उधर दर्पण लगा दो जहां देखो दिखा मुख प्रतिबिंब अनेक हो जाएगा एक ही बिंब है और उपाधि का भेद मानो तो कोई आपत्ति नहीं है दुखी तत्व न प्रयोग लोक ही भाषा में लोक ही अविद्या स्वात्मनि अध्यस्तया काम कर्म उद्भवम दुखम अनुभवति लोक ही अविद्या दुखम अनुभवति अविद्या फिर कैसे है स्वात्मनि अध्यस्तया लोक ही अविद्या दुखम अनुभवति दुख अनुभव करता अविद्या से तो अविद्या नाम को कोई उसके पास है बैठे होगी परमात्मा ने माया से जगत की सृष्टि की माया से जगत की रचना सुनते सुनते सुनते सुनते लग जाता है परमात्मा के साथ कोई माया नाम का है उनकी पत्नी वाली तो माया को कहते जैसे कोई गृहस्थ अपने पत्नी को कहता भोजन बनाओ इस प्रकार माया से जगत संसार सृष्टि की तो माया नाम को कोई के उनके पास है माया माया सुनते सुनते उसको कल्पना कर ले तो अलग माया तो जब तक कार्य दिखता है प्रपंच माया तो कहते हैं किंतु ब्रह्म से भिन्न अलग है ही नहीं है चैत्य की शक्ति बड़ी शक्ति है चैत्र की चैत्र की शक्ति बड़ी शक्ति है बहुत शक्ति है चैत्र शक्ति बहुत कहते कहते चैत्र से भिन्न है क्या शक्ति चैत्र की शक्ति चैत्र से भिन्न है या नहीं भिन्न नहीं तो चैत्र ही शक्ति है अभी ना हुआ चैत्र ही शक्ति है चैत्र ही यदि शक्ति हो तो चैत्र की शक्ति कैसे कहेंगे चैत्र के चैत्र का चैत्र कहते कोई चैत्र की शक्ति कहते चैत्र से भिन्न होना चाहिए तो भिन्न नहीं अभिन्न नहीं उभय नहीं है अग्नि की शक्ति है दाहक दाहक तो शक्ति अग्नि से भिन्न है ना नहीं भिन्न हो तो अग्नि बुझ जाने पर रहे अग्नि को बुझा दो शक्ति रहेगी अग्नि से की शक्ति अग्नि रूप है क्या अग्नि की शक्ति यदि अग्नि है तो अग्नि की अग्नि कहो शक्ति की शक्ति कहो अग्नि और दाहक तो शक्ति यदि एक अर्थ होगा अग्नि की शक्ति का अर्थ अग्नि की अग्नि ऐसा नहीं होता है अग्नि की शक्ति अग्नि से अभिन्न नहीं भिन्न नहीं इसी प्रकार जो अविद्या माया है वो अध्यस्त आरोपित है भिन्न अभिन्न कुछ नहीं कर सकते अविद्या स्वात्मनि अध्यस्तया लोक अपने में दुख अनुभव करता है आत्मा में अध्यस्त अविद्या के द्वारा अविद्या कोई वास्तव नहीं आरोपित है अध्यस्त अविद्या के द्वारा दुख अनुभव करता दुख फिर कहां से आया चलो आत्मा के है अविद्या के है अनिर्वचनीय फिर दुख कहां से आया काम कर्म उद्भवम काम कर्म भ्याम उद्भव यस्य काम कर्म से उत्पन्न होता दुख कामे वासना और कर्म कामे वासना इच्छा फिर कर्म करता है बीतन प्रतिषिद्ध कर्म फिर दुख होता है काम कर्म से दुख प्रकट हो जाता है वो अनुभव करता है लोक अज्ञानी न तो सा परमार्थतः सात्मनि परमार्थतः आत्म स्वरूप में है ही नहीं है अविद्या भी आरोपित है दुख का अनुभव करते दुख भी अध्यस्त है आत्मा में न तो सा परमार्थतः सात्मनि यथा रज्जु सुक्ति को उकर नगर गगन आदि गगनेश सर्प रजत उदक मलानी न रज्वादीना सत दोष रूपाणी सन्ति रज में भ्रांति से सर्प दिखता है सुक्ति में रजत है और आगे उखर उखर में उदक मरु में उदक और गगन में मल और उसर शब्द उखर भी ऐसे हिंदी में तो ख स गो कहते कहीं उखर शब्द भी है उसर है मरुभूमि न रज्जु नाम सत दोष रूपाणी संति रज्जु का दोष सर्प नहीं सर्प दिखने पर भी रज्जु में कोई दोष नहीं है ऐसे सब दिखने पर भी उसे दोष नहीं है संसर्गिणी विपरीत बुद्धि अध्यास निमित्तत्वात् तद दोषवद विभाव्यते संसर्गिणी पुरुष है पुरुष में विपरीत बुद्धि अध्यास निमित्तत्वात् विपरीत बुद्धि भ्रांति बुद्धि है उस अध्यास के का निमित्त होने से दो शब्द विभाव्य विभाव्यन्ते पुरुष में दोष वाले लगते हैं न तद दोष ही तेसाम लेपो दोष से उनका पुरुषों का संबंध नहीं होता है विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्य हिते विपरीत बुद्धि अध्यास के बाहर है तथा आत्मनि टीका में स्वरूपेण भ्रमा विषयत्व विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्यत्वम रज्वादिनाम तथा हम्म? तथा पहले यथा है क्या हाँ यथा शब्द नहीं होने पर अध्यार हो जाता है यथा शब्द हो तो ठीक है यथा शब्द है क्या अच्छा सर्पेण भ्रमाभिषेतम विपरीत बुद्धि अध्यास बाह्यत्वम रज्जु सर्वपत भ्रम का विषय नहीं है रज्जु रज्जु सर्वपत भ्रम का विषय नहीं है भ्रम काल में रज्जु नहीं दिखती है ईदम तो नहीं दिखती सर्वपत भ्रम का विषय नहीं विपरीत बुद्धि अध्यास के बाह्य अधिष्ठान है विपरीत बुद्धि सर्प बुद्धि अध्यास बाह्य है अध्यास में प्रतीत नहीं होता है रज्जु जो स्वरूप है जिस पर रज्जु का स्वरूप वो नहीं दिखती है दिखता है केवल इदंत्वेन सामान्य रूप से दिखता है विशेष रूप से ग्रहण नहीं होता है तथा चैतन्य से उपाधि स्वरूपण अध्यास आश्रयत्वे भी निरुपाधिक बिंबकल्प ब्रह्म रूपण अध्यास अनाश्रयत्वात् चैतन्य उपाधि स्वरूपण अध्यास आश्रयत्वे भी औपाधिक रूप से अध्यास का आश्रय ते है अध्यास का आश्रय उपाधि स्वरूपेण अध्यास का आश्रय ब्रह्म का आश्रय होता है अविद्या अध्यास होता है उपाधि स्वरूपेण आश्रय होने पर भी निरुपाधिक बिंबकल्प ब्रह्म रूपेण चेतन का प्रतिबिंब अंतकण में दिखता है तो उपाधि स्वरूपेण अध्यास होता है उसमें सुख दुख आरोप होता है जल का कंपन जैसे प्रतिबिंब में दिखता है अंतकण का सुख दुख अचिदाभास में आभास में आरोपित होता है किंतु बिंब रूप चेतन जैसे बिंब रूप चंद्र में कंपन नहीं है चंद्र के प्रतिबिंब जल में उसमें कंपन दिखता है बिंब रूप चंद्र में कंपन नहीं इसी प्रकार निरुपाधिक जो बिंब कल्प ब्रह्म निरुपाधिक है ब्रह्म बिंब के सदृश सर्वव्यापक है वो अध्यास नाश है तो उसमें अध्यास भ्रांति ही नहीं अध्यास तो औपाधिक रूप में शुद्ध चेतना अध्यास का आश्रय नहीं है भ्रांति नहीं है न दुखित प्राप्ति दुखित्व की प्राप्ति शुद्ध चेतन में नहीं है जिस प्रकार यहाँ जल के कंपन प्रतिबिंब चंद्र में प्रतिबिंब आकाश में दिखेगा बिंब रूप चंद्र में नहीं दिखता है है ही नहीं इसी प्रकार अंतकण के सुख दुख धर्म दिखता है चिदाभास में अध्यास का से होता है औपाधिक रूप से निरुपाधिक बिंब रूप चेतन में अध्यास है ही नहीं सुख दुख का संबंध है ही नहीं न सुख दुख की प्राप्ति है तथा आत्मनि भाष्य में सर्वलोक क्रिया कारक फलात्मक विज्ञानम सर्पादिष्ठानियम विपरीत मध्यस्य तन्निमितम जन्म मरण मरणादि दुःखम अनुभवति न तो आत्मा हम बताएंगे ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु